الله पहली बात यह है कि गुरु और शिष्य श्रोता और वक्ता इन दोनों के हृदय की काम क्रोध से रक्षा हो अवश्य काम क्रोधादि जो विकार हैं दोष दुर्गुण हैं उनसे तो होवे रक्षा और सहनऊ गुण और दोनों के हृदय में शांति शांति आदि सदगुण आकर के उसका पालन करें सुपुष्ट करें रक्षा करना और पालन करना दो चीजें हो हैं जैसे एक पौधा हो आपके और कोई पशु चरने के लिए जाए तो गंदा लेके पशु को भगा दिया तो ये क्या हुआ ये पौधे की रक्षा हुई है और उसमें थोड़ी खाद डाल दी थोड़ी सिंचाई कर दी थोड़ी छटाई कर दी है ये क्या हुआ कि ये उसका पालन हुआ पालन पुष्ट करना तो श्रोता बक्का दोनों का हृदय दोष शून्य हो गए ये तो अवतु है, हैं? और दोनों में सदगुण आवे समदमादी संपत्ति आवे ये भुनक है तीसरी बात क्या है ये दो बात हुई तीसरी बात क्या हुई कि हम दोनों श्रोता और वक्ता एक साथ मिल करके परिश्रम करें कि हमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो और अविद्या की निवृत्ति हो मन श्रवण मनन आदि हम एक साथ करें एक साथ प्रयत्न करें वक्ता बोले और श्रोता सुने और वक्ता समझावे और श्रोता समझे सह वीरियम करवा भाई हम दोनों की जो वीरता है पराक्रम है वो एक दिशा में लगे ये नहीं कि श्रोता को तो समझाने की कोशिश करे श्रम समझने की कोशिश करे और बक्का दुनियादारी की बात करने लग जाए श्रोता तो जिज्ञासु हो और बक्का संसारी हो जाए है ना और बक्का समझाने की कोशिश करे ब्रह्म तत्व और श्रोता संसार सुने तो ऐसा नहीं सब युजन करवा वही कार से दोनों की वृत्ति एक तरफ लगे है ना ये तीन बातें हैं और क्या है हाँ और हम लोगों की जो ब्रह्म विद्या है अधीपक तेजस्वी अस्तु हमारी ये जो विद्या है जिसको हम बोलते हैं और सुनते हैं ये जो प्रमाण जन्य वेदांत विद्या है ये तेजस्वी होवे माने अविद्या की निवृत्ति में समर्थ होवे ये चौथी बात आई ये चौथी भूमिका हो गई हो हाँ काम क्रोधादि दोषों की निवृत्ति प्रथम भूमिका समदमादि संपत्ति का सुहागमन ये द्वितीय भूमिका और श्रवण मनन निधिध्यासन ये तृतीय भूमिका और ये हमारा अध्ययन अविद्या को निवृत्त करेगी चौथी भूमिका अब पांचवी लो है ना माँ विद्विषा वही हमारे हृदय में राग द्वेष न होवे तो एक ही मंत्र में काम क्रोधादि की निवृत्ति समाधि सद्गुणों की प्राप्ति और एक साथ श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए प्रयत्न ब्रह्म विद्या से अविद्या की निवृत्ति और राजद्वेश से रहित जीवन मुक्ति इन पांच पदार्थों का वर्णन इस एक ही मंत्र में किया गया है इसलिए इसको कठोपनिषद का शांति पाठ कहते हैं हाँ, ये तो हो गई प्रारंभिक बात अब मूल उपनिषद में ये जो मंत्र चल रहा है उर्ध मूलो वाक साख स्वस्थ सनातन तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदेवामृतम उच्यते तस्मिन लोकात कर दे तदु नास्ते थी कश्चन तो इसमें बताते हैं कि ये संसार एक पीपल का पेड़ है अश्वत्था तो पीपल का पेड़ क्यों है इसके लिए शंकराचार्य भगवान ने बड़े विस्तार से पीपल के वृक्ष का रूपक बाबा है ये बताया कि ये सनातन है अनादिकाल से आ रहा है और प्रवाह रूप से चल रहा है परंतु ये जैसा दिखाई पड़ता है वैसा कल भी नहीं रहेगा इसलिए इसको अश्वत्थ बोलते हैं न स्व था, था, था कल नहीं रहेगा ये बदल जाएगा हाँ। ये काले बाल नहीं रहेंगे सफेद हो जाएंगे ये चरी जवानी उतर जाएगी बुढ़ापा आवेगा ये जिनसे तुम दोस्ती करने में उलझ गए उनसे वियोग होगा वो मर जाएंगे वो बेवफा निकलेंगे जिनसे तुम दुश्मनी करने में लग गए अरे वो तो अपने आप ही मरने वाले थे हो है ना हाँ, हाँ। पिष्ट सब पीछे हुए को पीसना चबाए हुए को चबाना मरे हुए को मारना है अरे ये दुनिया तो अपने आप ही मरी हुई है इसको मारने के लिए कोशिश क्या करना है एक विनोद की बात आपको सुनाता हूँ एक आदमी उड़िया बाबा जी के पास आकर एक बार बहुत दुखी हुए बोले महाराज ये जो पड़ोसी हैं हमारे ये बड़े दुष्ट हैं जब देखो जब निंदा करते रहते हैं और जब मैं निंदा सुनता हूँ अपनी तो दिल जल जाता है और ये सब वेदांत विचार और भक्ति भरी रह जाती है पहले तो मन में दुश्मनी आती दुश्मनी उड़िया बाबा जी ने कहा कि बेटा उनके लिए तो क्या फिक्र करता है अब तो उनकी उम्र सिर्फ एक बरस है एक बरस के भीतर ही वो मर जाएंगे हैं? तो कर लेने दे निंदा पेट भर तो वो तो एक बरस में मर ही जाएंगे हे भगवान अब उनका ख्याल उधर से हट गया उन्होंने सोचा ये तो एक बरस के भीतर मर जाएंगे अब इनकी निंदा की क्या परवाह करनी है ये तो बक बक कर वो लग गए अपने काम लग गए काम में वो तो एक बरस हुआ दो बरस हुआ तीन बरस हुआ वो आदमी तो मरा ही नहीं <laughs> तो मैंने उस, उस महाराज से पूछा कि आपने तो कहा था कि एक बरस के भीतर मर जाएगा है? मेरे सामने ही कहा था तो वो तो मरा नहीं तो बोले कि बेटा वो जो जिज्ञासु था जिसको वेदांत का चिंतन करना था ना वो उसको तुच्छ समझ के उपेक्षा कर दे और उसकी निंदा स्तुति की तरफ ध्यान न दे इस अभिप्राय से मैंने कहा था कि एक बरस अब उसकी आयु है बोला तो ये जो तुम अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को छोड़ करके अरे ब्रह्म हो भाई ब्रह्म तो इस बात का ख्याल छोड़ करके जो दुनिया की छोटी छोटी बातों की तरफ तुम्हारा ख्याल जाता है उस ख्याल को हटाने के लिए ये समझाना जरूरी है कि ये जो दुनिया है ये जो प्रपंच है ये चार दिन की चांदनी है चार दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात जो भरा तो जरा जो बरा तो बुताना जो आग जलती है वो बुझ जाती है जो फलता है वो गिर जाता है ये जो तुम्हें ये दुनिया दिखाई पड़ रही है इससे वैराग्य होना जरूरी है इसलिए इसको बताते हैं पीपल का पेड़ पेड़ अस्वस्थ न स्वस्थाता ये टिकाऊ नहीं है तो इसकी शाखाओं में अगर थकोगे तो नीचे जाओगे अवाक शाखा इसकी शाखाएं नीचे की ओर जाती हैं और इसकी जड़ को अगर पकड़ोगे तो ऊर्ध्व मूलहा इसकी जड़ ऊपर है ऊपर की ओर जाओगे इसलिए कार्य वर्ग का परित्याग करके कारण का अनुसंधान करो हैं? ये बात विषय की दृष्टि से बोली गई कार्य को छोड़कर कारण का अनुसंधान करो है क्षणिकता को छोड़ करके अनित्य को छोड़ करके नित्य का अनुसंधान करो ये बात काल की दृष्टि से कहे गए हैं और अल्प देश में रहने वाले को छोड़कर विश्व व्यापक वस्तु का अनुसंधान करो पूर्ण वस्तु का अनुसंधान करो ये देश की दृष्टि से बात कही गई असल में पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो कैसा कब देश की पूर्णता काल की नित्यता वस्तु की कारणता ये तीनों एक में जब मिला दी जाती हैं तो उसका नाम होता है अज्ञान नारायण वेदांत की प्रक्रिया बड़ी विलक्षण है देश की पूर्णता भी अज्ञात है काल की नित्यता भी अज्ञात है और वस्तु की कारण दशा भी अज्ञात है तो अज्ञातता से उपहित जो चैतन्य उसी को बोलते हैं कारण हाँ, जड़ की दृष्टि से उसका नाम है प्रकृति और चैतन्य की दृष्टि से उसका नाम है ईश्वर और चीज बिल्कुल एक ही है अज्ञातता से ढका हुआ जो ब्रह्म उस ब्रह्म को ही जड़ दृष्टि की प्रधानता से प्रकृति और चैतन्य दृष्टि की प्रधानता से ईश्वर कहते हैं और ये जो अज्ञातता जहाँ देश काल वस्तु तीनों एक हो करके अज्ञात में समा जाते हैं निवृत्ति आत्मा मोहत्व अज्ञात अज्ञाते नोपलक्षिता अज्ञातत्वोपलक्षिता ये अज्ञान किसमें है अज्ञान से उपहित कौन है एक प्रश्न है तो बोले ब्रह्म में ब्रह्म के किसी एक हिस्से में अज्ञान है और वही जगत का कारण है जब तुम ऐसा मानोगे तो झूठी कल्पना करोगे ब्रह्म में अज्ञान अज्ञान कुछ नहीं है अनंत चैतन्य ब्रह्म चिन्मात्र ज्ञान स्वभाव में अज्ञान कहा बोले नहीं हमको मालूम पड़ता है कि मैं अज्ञानी हूँ मुझको देश की पूर्णता का छोर नहीं मिला मुझे काल की जो नित्यता है उसका आदि और अंत नहीं मिला मुझे कारण दशा में वस्तु की जो सूक्ष्मता है वो प्रत्यक्ष नहीं हुई है तो अज्ञान किसको है का मुझ में है तो ये अज्ञान से अज्ञान से ढका कौन बोले मैं बोले केवल मैं ही नहीं सारी दुनिया तो सारी दुनिया अज्ञान से ढकी तब उसका नाम ईश्वर और सिर्फ मैं अज्ञान से ढका तो उसका नाम जीव बोले अरे सारी दुनिया है ये बात भी तो जीव को ही मालूम पड़ती है और फिर सारी दुनिया में जो ढका हुआ है वो क्या जीव के साथ रहकर ढका हुआ नहीं है तो नारायण ये जिसको अज्ञान मालूम पड़ता है उसको जब तुम ढूंढ निकालोगे तो तुम ऐसे नित्य निकलोगे जिसमें काल की नित्यता हवा में उड़ जाएगी अध्यस्त हो जाएगी हो काल की नित्यता अभ्यस्त है जिसमें वस्तु की सूक्ष्मता कारणता अभ्यस्त है जिसमें देश की पूर्णता अभ्यस्त है ऐसा स्वरूप है तुम्हारा हे भगवान हाँ। सारे वेद शास्त्र पुराण तुम्हारी स्तुति करते हैं हाँ। और तुम्ही को प्रस्तुत करते हैं प्रस्तुतिकरण भी तुम्हारा और स्तुति भी तुम्हारी ये वेदांत की स्थिति तो <coughs> वैराग्य की बात जब आती है तो इतनी इतनी बात याद रखें क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो पैसा कमाने में तो अपना दिमाग लगाना चाहता है और भोग भोगने में अपना दिमाग लगाना चाहता है फैशन बनाने में अपना दिमाग लगाना चाहता है, है? लेकिन मैं कौन हूँ ये विचार करने में तो वो दिमाग लगाना ही नहीं चाहता पहले के महात्मा लोग क्या सोचते थे जब देखते हैं ना तो आप लोग जरा ऐसा समझोगे कि हम लोग इतने इतने अधिकारी ऊंचे वेदांती अधिकृता हम लोग तो वेदांत के अधिकारी हैं ऊंचे और हम तो ब्रह्माकार वृत्ति के कर्ता हैं अपने को ऊंचा अधिकारी मानना है ना ब्रह्म दृष्टि से चुप होना है है ना और हम ब्रह्माचार वृत्ति के कर्ता हैं ऐसा मानना भी है ना ऐसा मानना भी ब्रह्म दृष्टि से चुप होना है और बस हमारा कर्तव्य तो अब एक ही है कि निरंतर समाधि लगा ब्रह्माचार ब्रह्माकार वृत्ति करें कि अपने में कर्तव्य की कल्पना भी ब्रह्म दृष्टि से छोटी है ब्रह्म दृष्टि तो बड़ी ऊंची चीज है तो मैं अब आप जैसे अधिकारियों को छोटी बात सुनाऊ सुनाने वाले को भी संकोच हो और सुनने वाले को संकोच हो एक बार की बात है मैं आपको सुनाता हूँ हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं तो जोशी मठ पहुंचे शाम को ये बात सन सैतालीस अड़तालीस की है उड़िया बाबा जी महाराज का शरीर पूरा होने के बाद है ना यही संकल्प हुआ था कि चलो बद्रीनाथ तक तो जब जोशी मठ पहुंचे तो वहाँ जीके वालों का ये सारा परिवार जीके ग्रुप है ना ये लोग लौटते हुए बद्रीनाथ से जोशी मठ में ठहरे थे तो डेढ़ सौ तो इनके साथ वो थी दंडी कंडी जो होती है ना जिसमें चार चार चार चार खोने वाले लगते हैं डेढ़ सौ थी बोला और बीस पच्चीस आदमी घर के थे मेहमान थे डेढ़ सौ दो सौ तीन सौ आदमी इनके साथ जो मठ घेर लिया था इन लोगों ने न कहीं ठहरने की जगह मिले न पीने को दूध मिले है ना रसोई बनाने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं हो तो जब कोई बस नहीं चला अपने लोगों का तब मैंने कहा कि चलो अब निकालते हैं जुक्ति हाँ, जाके जहाँ ये लोग ठहरे हुए थे उसके सामने जाके बैठ गए और माँ जी के पास खबर भेजी कि हम लोग बद्री पहचान तो थी हम लोग बद्रीनाथ जा रहे हैं तो अरे आएंगे आके प्रणाम किया बोले महाराज हमने सुना था कि आप भी बद्रीनाथ आने वाले हैं साथ ही क्यों नहीं आए ये हुआ वो हुआ फिर बोले महाराज भोजन तो भोजन तो करेंगे बाजार में तो कहीं मिलता नहीं न ठहरने की जगह है न बनाने की जगह है तो भोजन तो करेंगे ही तो बनी पूरी देखो वेदांत के बीच में ये बात आपको बड़े बाबू की लड़की परतने के लिए आई तो पूरियां कुछ मोटी थी हो जो दिया दस बीस पूरी रख के रसोइये ने दिया थाली में और लड़की ने वो छल से थाली फेंक दी हम कही क्या वो हम लोग को भोजन करने बैठे थे बोली मैं परसू और स्वामी जी को परसू और ऐसी पूरी परसू आया ध्यान से आप तरीके श्रोता को मरसू और इतनी छोटी बात परसों तो इतनी छोटी बात लेकिन फिर भी कभी कभी छोटी बात पर आदमी का ध्यान नहीं जाता है बोला और तो फिर बढ़िया पूरी बनी तब तो हम लोगों ने खाया आपको तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक की एक बात सुनाता हूँ आप तो जानते ही हो कि साक्षात साधन तो है के प्रमाण आत्मा और ब्रह्म की एकता के ज्ञान में महावाक्य के अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं होता है वाक्य की अतिरिक्त यदि प्रमाण हो तो ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान कर्ता के अधीन हो जाएगा मन के ध्यान से हुआ या बुद्धि का विषय बनाकर हुआ तो बुद्धि का विषय बनाकर हुआ तब भी साक्षी भाव से हो जाएगा है? और मन के ध्यान से हुआ तब भी साक्षी भाव से हो जाएगा है ना? इसलिए जो दृष्टा है जो साक्षी है उसी को ब्रह्म बताता है वेदांत का वाक्य तो महावाक्य के है कोई दूरबीन कोई खुर्दबीन है ना और कोई विज्ञान और कोई ध्यान है ना आत्मा को ब्रह्म बताने वाला नहीं है तो साक्षात तो महावाक्य है नारायण और अंतरंग साधन है श्रवण मनन निधिध्यासन और बहिरंग साधन है नित्या नित्य वस्तु विवेक यहाँ मूत्र फल भोग विराग समाधि सत्सम्पत्ति और मुमुक्षा तो बहिरंग साधनों में से पहला साधन है नित्या नित्य वस्तु विवेक तो नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या होता है अब ये देखो अस्वस्थ का जो वर्णन है ना इसको आप ध्यान दो तब मालूम पड़ेगा नित्यानित्य वस्तु विवेक संसार में नित्य क्या है और नित्य क्या है इस वस्तु का विवेक करना तो जो हम लोग खेती से पैदा करते हैं ना अन्न या मशीन से बनाते हैं कपड़ा है? हम्म? या स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न करते हैं बच्चा ये जो संसार में जो चीजें हैं ये सब की सब क्योंकि पैदा होती हैं इसलिए नष्ट हो जाती हैं दृष्ट नष्ट स्वभाव हैं इसलिए अनित्य हैं अपना शरीर भी पैदा हुआ है और मरने वाला है इसलिए अनित्य है बोले यहाँ तक की बात तो गई ये तो बहुत आसान है तो धर्मात्मा लोग कहते हैं कि धर्म करो और स्वर्ग मिलेगा स्वर्ग नित्य है परलोक नित्य है और ये लोक नित्य है तो वेदांतियों का कहना है कि चूंकि धर्म भी मनुष्य के द्वारा किया जाता है वो भी सीमित होता है इसलिए सीमित मजदूरी का फल असीम फल है सीमित मजदूरी और फल असीम ऐसा नहीं हो सकता तो धर्म के द्वारा उत्पाद्य होने के कारण स्वर्ग आदि रूप फल भी अनित्य है बोले ऐसा अच्छा, यहाँ तक भी मान लिया हमको स्वर्ग भी नहीं चाहिए अब हम ईश्वर की उपासना करते हैं और वो कृपा करके हमको वैकुंठ गोलोक या साकेत में ले जाता है तो वो तो हमारे धर्म का फल नहीं है ईश्वर की प्रसन्नता का फल है इसलिए नित्य होना चाहिए वेदांतियों का इसमें भी कुछ कहना है वो कहते हैं कि जो चीज दूसरे की इच्छा से मिलती है वो दूसरे की इच्छा से मिट भी सकती है हैं? तो पराधीनता तो बनी रही अगर ईश्वर कभी ये चाहे कि गोलोक का सारा समाज लोक में चले तो जैसे आके गोपियों को रोना पड़ा वैसे ही रोना पड़ेगा जब कभी राम प्रभु चाहे इस साकेत का सारा समाज धरती में चले तो खुद को ही उनको सीता के वियोग में जैसे दुखी होना पड़ा और सीता जी को दुखी होना पड़ा भरत को दुखी होना पड़ा राम को दुखी होना पड़ा है ना भले ही वो दुख प्रेम का हो है परंतु दुख तो दुख ही है है ना बढ़िया कारण से हुआ कि घटिया कारण से हुआ ये बात दूसरी है नारायण से विष्णु महाप्रभु यदि धरती में आना चाहें तो सनकादिकों को गुस्सा भी आ जाएगा लक्ष्मी जी भी नाराज हो जाएंगी जय विजय को धरती में आना पड़ा तो तुमको भी आना पड़ेगा तो निरतिशय मुक्ति की प्राप्ति लोक विशेष में जाने से भी नहीं होगी धर्म से उत्पाद जो अमृत है अप्सरा है नंदन बल है वो भी अनित्य होगा है? और प्रभु की प्रसन्नता से दिया हुआ जो पदार्थ होगा वो प्रभु की इच्छा के अधीन होगा तो बोले आओ योगाभ्यास करें और समाधि प्राप्त करें ये अस्वस्थ का वर्णन है हो ये सब अस्वस्थ है तो बोले आओ योग योग करें समाधि लगावें बोले ये तो ऐसा है कि जितने दूर से ढेला फेंकोगे आसमान में उतना ऊंचे जाएगा है? और कभी न कभी उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी बोले आओ प्रक्षेपणास्त्र से फेंकें राकेट पर फेंकें और उपग्रह बना दे पृथ्वी की कक्षा से बाहर कर दे तो घूमते घूमते एक दिन उसकी भी शक्ति क्षीण हो जाएगी और वो नष्ट हो जाएगा वही अपनी कक्षा में घूमते घूमते ही नष्ट हो जाएगा तो प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि के द्वारा उत्पाद्य जो समाधि है वो अपनी शक्ति से उत्पाद्य होने के कारण वो भी एक दिन टूटेगी चाहे संप्रज्ञात हो चाहे असंप्रज्ञात चाहे सबीज हो चाहे निर्बीज लेकिन जैसे सुषुप्ति टूटती है एक दिन प्रयत्न साध्य होने के कारण स्वाभाविक न होने के कारण कई एक दिन वो समाधि भी टूटनी पड़ेगी वो भी अनिश्चय ही है तब देखो हमको असल में बात तो दूसरी कहनी है उसकी तो भूमिका ही बना रहा हूँ ना ये सब भूमिका है तो बोले कि अच्छा कारण में जो अवस्थान है, है? तो कारण में अवस्थान दो फर्क है एक प्रकृति में और एक ईश्वर में वही मैंने पहले सुनाया था ना कि जड़ता की प्रधानता से दृश्य की प्रधानता से आजकल लोग मैं की खोज करते हैं ना तो देखो विज्ञान से साइंस के अनुसार जो मैं की खोज की जाएगी वो दूसरे के मैं की खोज की जाएगी हो अपने मैं की तो खोज की नहीं जाएगी मशीन पर अपने को चढ़ा के अपने मैं की खोज करोगे ना दूसरे के मैं की खोज करोगे क्या साइंस सिद्ध करेगा अपने मैं को साइंस को जो सिद्ध कर रहा है जिससे साइंस की सिद्धि होती है वो साइंस से सिद्ध नहीं होता साइंस को सिद्ध करने वाला अपना आत्मा है तो देखो असल में अनित्य शब्द का अर्थ क्या है कि अनित्य जिसके साथ चिपक गया उसी का नाम अनित्य हो गया अनित्यम अस्थि अस्थ्य इति तो अनित्यम अनित्य न प्रकृति है न अनित्य ईश्वर है अनित्यता की कल्पना जिसमें चिपक गई उसका नाम अनित्य है और नित्यता की कल्पना जिसमें चिपक गई उसका नाम नित्य है नित्यता और अनित्यता की कल्पना का जो प्रकाशक अधिष्ठान है उसको आत्मा कहते हैं और नित्यता अनित्यता दोनों की कल्पना से जो तादाद में किए हुए है असल में वही अनित्य है तो अनात्मा जो है वो अनित्य है और आत्मा नित्य है बोला निरुपचरित बिना किसी गौणता के जिससे मैं अलग हूँ वो अनित्य है परिवर्तनशील है और जो मैं दृष्टा हूँ साक्षी हूँ अधिष्ठान हूँ ब्रह्म हूँ है ना तो मैं नित्य हूँ तो नित्यानित्य विवेक माने सदसद विवेक फल विवेक नहीं सदसद विवेक भामतीकार का मत भामतीकार का मत ये है हाँ। धर्म के फल का विवेक अधर्म के फल का विवेक उपासना के फल का विवेक वासना के फल का विवेक है और विक्षेप के फल का विवेक और समाधान के फल का विवेक ये नित्यानित्य वस्तु विवेक है ऐसा मत है विवरण करता विवरण प्रस्थान है हाँ, फल के नित्यानित्यत्व का विवेक परंतु नित्य है जिसमें अनित्य है जिसमें उस आत्मा का विवेक और ये नित्यानित्य रूप से जो कार्य कारण विभू परिच्छिन्न है और जगत की नित्यता और अनित्यता आपेक्षित जिससे भापती है वो आत्मा नित्य है और बाकी सब का सब अनित्य है इस प्रकार का जो आत्मानात्म विवेक है वो बहिरंग साधन की पहली कड़ी है हे भगवान ये तो बात गड़बड़ा गई बहुत बड़ी बहिरंग साधना की पहली कड़ी है आत्मानात्म विवेक अब वैराग्य की भूमिका देखो संपूर्ण अनात्म प्रपंच से वैराग्य होना कि स्त्री से वैराग्य होना पुरुष से वैराग्य होना ये नहीं कि स्त्री के हृदय में पुरुष से वैराग्य हो पुरुष के हृदय में स्त्री से वैराग्य हो ये तो है शुरू शुरू का प्रारंभिक वैराग्य है वैराग्य का अर्थ है असल में तादात्म्य तादात्म्य का अभाव समझो तादात्म्य का अभाव शत्रु से तादात्म्य होने का नाम द्वेष है और मित्र से में होने का नाम राग है, हैं? और परिच्छिन्न अहम से में होने का नाम अस्मिता है परिच्छिन्न अहम से में होने का नाम अस्मिता है तो वैराग्य किससे कि जिससे मैं विलक्षण हूँ उसके साथ मैं मेरा न करना इसका नाम वैराग्य है और जिस अंतकरण में राग पैदा होता है जिस अंतकरण में देश पैदा होता है उस अंतकरण से ही सादात में न करना इसका नाम वैराग्य है तो जब हम अंतकरण के उस घोड़े पर नहीं चढ़ेंगे तो हमको गिराने की कोशिश क्या करेगा तो अपने आप ही शांत हो जाएगा दांत हो जाएगा उपरत हो जाएगा तितिक्षु हो जाएगा हाँ, श्रद्धालु हो जाएगा समाहित हो जाएगा जब घोड़े पर नहीं चढ़ेंगे तब लेकिन ये घोड़ा कथा है क्या ये हमेशा बना रहेगा और जब जरा असावधान हुए और इस पर बैठ गए और ये मैं मेरा है ये करने लगे बोले नहीं नहीं इस घोड़े को अब हमेशा के लिए अब यज्ञ ही इसका होगा है ना अश्वमेध यज्ञ सर्वमेध यज्ञ हाँ यजुर्वेद में यजुर्वेद में सर्वमेध यज्ञ का वर्णन है वेदारण्य उपनिषद आप कभी पढ़े हाँ आजकल तो महाराज लोग शेरों के द्वारा वेदांत पढ़ते हैं ना ये क्या होते हैं ये शेर ही तो होते हैं ना हाँ कविता के द्वारा वेदांत पढ़ते हैं हाँ। एक महामंडलेश्वर से हरिद्वार की तरफ वो महाराज बस हारमोनियम लेके और टप्पे गाते थे थप्पे हाँ। रिचाए निकलती हैं इनके मुंह से खुमरिया होकर तो अब लोग ऋचा से वेदांत तो पढ़ते नहीं खुमरी से वेदांत पढ़ते हैं जो भी हारमोनियम साथ हो तो बहुत मजेदार है? तो अब विवेक वाली जो बात है विवेक वाली बात वो तो जरा न्यारे रंग की है तो आप विचार करके कभी गंभीरता से विचार करके देखो कि इदम के साथ ये परिच्छिन्न अहम भी इदम हो इदम अहम ऐसी भी मृत्यु होती है ये मैं हूँ एक अहम प्रकाशक है ये अहम भाषित हो रहा है उसके साथ अपने को जोड़ बैठना इसी का नाम राग है परिच्छिन्न अहम जो है वो भी दृश्य है तो देश से परिच्छिन्न माने हृदय में रहने वाला शरीर के भीतर रहने वाला जो आम है हृदय के भीतर अंतर देश में अथवा बहिर देश में बहिर देश में स्थित शरीर की चमड़ी हमारा काम गौरव मैं गोरा हूँ ये क्या है कहिए बहिर देश में स्थित जो चाम है उसके अभिमान से अपने को मानते हैं गोरा हम्म। और हम विद्वान समाधि मैं बड़ा विद्वान हूँ मैं समाधिस्थ हूँ मैं जीव हूँ मैं विभू हूँ ये अंतर्देश बहिर्देश सर्वदेश में जो अहम भाषता है उस अहम के साथ तादात्म्य करना ये लाभ है ये अपने हाँ, विभु अहम विभु हूँ हाँ, मैं विभु हूँ हाँ, तो ये विभुता भी है ना सर्वदेश के साथ संबद्ध होने के कारण तो चाहे गोरे शाम को मैं कहो चाहे दिल में फुरफुराती हुई चेतना को मैं कहो और चाहे विश्व में व्याप्त चेतना को मैं कहो ये सब के सब अनहम है ये सब के सब इदम है ये सब के सब अनात्मा है नारायण ऐसे चुनमात्र वस्तु में तो फिर मनुष्य बारम्बार एक हो जाते हैं कहीं न कहीं मिल जाते हैं कभी अपने को हिंदू मानने लगते हैं तो कभी अपने को ब्राह्मण मानने लगते हैं तो कभी सन्यासी मानने लगते हैं तो कभी भारतीय मानने लगते हैं तो कहीं मानवता सिर पर चढ़ बैठती है, है? तो कभी जीव मात्र के साथ तादात्म्य हो जाता है, है? कहीं ईश्वर से ही भूल मिल जाते हैं कहीं प्रकृति को ही मैं समझ लेते हैं नारायण ये अपने स्वरूप के अज्ञान से ही ईश्वर के साथ मिले चाहे प्रकृति के साथ मिले चाहे प्रकृति के करोड़ जो अंडे हैं करोड़ करोड़ जो अंडे हैं ब्रह्मांड हैं उनके साथ मिले चाहे विभू के साथ मिले चाहे अमर के साथ मिले चाहे मर के साथ मिले चाहे अंतर देश में मिले बहिर्देश में मिले सर्व देश में मिले नित्य में मिले अनित्य में मिले कहीं भी प्रतीयमान पदार्थ के साथ आत्मा का जो संसर्ग है से न ममत्व न सत्यत्व न हाँ, ये सच है ये मेरा है ये मैं हूँ हाँ, ये अपने स्वरूप के अज्ञान से विजृंभित है तब ये हुआ कि भाई जिसके अज्ञान से ये कोटि कोटि अनर्थ की प्राप्ति हुई है नारायण इस अश्वमेध यज्ञ का होना अश्वत्थ भी तो तभी होगा ना अश्वत्थ कौन है, है? अश्वे स्थित जस्य ये घोड़े पर जो चढ़ा उसका नाम अश्वत्थ अश्वतिष्ठति हो अश्वतिष्ठति इति अश्वत्था ये ये स्व का त हो जाता है बोला अस्वस्थ स्व का उत्थानम उत्तम्भनम हाँ। जैसे उत्थानम उत्तम्भनम आदि प्रयोग होते हैं ऐसे अश्वतिष्ठती हाँ, तो वेद में अश्वेद यज्ञ करने का वर्णन है उषा वा अश्वस्य सिरा अपने क्या हाँ, इसलिए बताया है ना कि आप हल्की फुल्की दुनिया में बहकर के हमको वेदांत का बोध हो गया है ना संगीत का मजा लो और कहो कि हमको वेदांत का बोध हो गया और कविता का मजा लो और कहो कि हमको वेदांत का बोध हो गया है ये जो रसास्वादन है सृष्टि में बोले भाई आज हमने बहुत बढ़िया वेदांत देखा का तो कैसे देखा देखा कैसे भाई का तो बोले एक नर्तकी नाच रही थी और उसने अपने भाव से अपने हृदय की ओर हाथ करके और ऐसा हाथ जो उंगली जो घुमाई है ना एक बार अपने हृदय पर हाथ रखा और फिर उंगली घुमा दी है ना ऐसे कर दिया बोले समझ में आ गया कि ये जो अहम है ये बड़ा भारी व्यापक है है ना तो एक नर्तकी के नृत्य में आज मैं वेदांत सीख के आया हूँ तो सर्वमेध यज्ञ करना पड़ता है वेदांत के लिए सर्वमेध यज्ञ अश्वमेध यज्ञ हाँ, तो ये अश्व में जो बारंबार स्थिति हो जाती है मेध माने हिंसा हो काटना हाँ, काटना हाँ। अनात्म वस्तु के अस्तित्व को अनात्म वस्तु के अस्तित्व को जब बिल्कुल काटोगे तब तुम्हारी अखंडता प्रकट हो जाएगी असल में दुनिया कटती है तुम नहीं कटते सपने टूटते हैं तुम नहीं टूटते सपने टूटते हैं तुम नहीं टूटते मनोराज्य टूटते हैं तुम नहीं टूटते अनात्मा बाधित होता है अनात्म मेघ होता है अश्वमेध माने अनात्म मेघ होता है आत्मा का भेद नहीं होता ये अखंड आत्मा ब्रह्म इसको श्रुति बताती है तो भाई ये जो कदली संभवत निस्तार जैसे केला है ना केला छिलका निकालते जाओ एक छिलके के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा कुछ नहीं निकलेगा दुनिया में है ना हाँ, प्याज में से गूदा निकालने की कोशिश मत करो बोला जानते हैं ना यहाँ प्याज वाले भी तो बैठे ही होंगे ऐसा नहीं है कि प्याज न जानते हो तो अरे बाबा वो तो इतनी दवा में भी तो काम आती है ना छिलते जाओ छिलके पर छिलका छिलके पर छिलका छिलके पर छिलका का बीज में बीच में कोई बादाम की गुठली निकलने वाली उसमें से नहीं है, है? तो ये प्याज के समान निस्तार केले के वृक्ष के समान निस्तार ये वृक्ष है और अनेक सप पाखंड बुद्धि विकल्पा पदा और कोई कहते हैं नित्य है कोई कहते हैं अनित्य है कोई कहते हैं शून्य है कोई कहते हैं विज्ञान है कोई कहते हैं पुद्गल है कोई कहते हैं पंचभूत है हजारों प्रकार के विकल्प पता ही न चले कि ये कौन सा पेड़ है इसका मतलब ये हुआ पता ही न चले कि ये कौन सा पेड़ है तत्व तो फिर निर्धारित एकदम तत्व हाँ, इसकी असलियत तो समझी है वेदांतियों ने ये जिसको भास रहा है उससे न्यारा कुछ नहीं है जिस पानी के पीछे हरिण दौड़ रहा है आप सोचो मरुस्थल में मरुस्थल में पानी समझकर एक हरिण भटकता है यहाँ जाता है वहाँ जाता है वहाँ जाता है वो पानी कहाँ है वो पानी उसकी अक्कल में है भ्रांति से जो चीज मालूम पड़ती है वो उसकी बुद्धि में होती है ये जो संसार में हम भटक रहे हैं यहाँ सुख मिलेगा यहाँ सुख मिलेगा सुख कहाँ है और एक हरिण छलांग भर रहा था वो काय के लिए तो उसको बड़ी तेज गंध आ रही थी और वो जंगल में भटके कि ये गंध कहाँ से आ रही है ये गंध कहाँ से आ रही है, है? उसको मालूम नहीं था कि मेरी नाभि में कस्तूरी है और उसी की गंध फूट करके बह रही है तुम ये जो दुनिया में दौड़ रहे हो कि हमको यहाँ सुख मिलेगा यहाँ सुख मिलेगा यहाँ सुख मिलेगा सुख नहीं यहाँ है न वहाँ है भला हाँ। अपने सुख की गंध फेंक करके तुम उसी को ढूंढ रहे हो अपने मन में से पानी उछाल कर तुम उसी के लिए प्यासे हो रहे हो सबसे प्यारे सबसे प्यारे तुम हो सुख स्वरूप हो किसको ढूंढते हो सबके प्रकाशक ज्ञान स्वरूप तुम हो कहाँ ज्ञान प्राप्त करने जाते हो न तुम में मृत्यु है न अमृत है न सब तो कन्नाक रुच्यते न तुम में सत है न असत है किसको ढूंढने जा रहे हो तो महात्माओं ने इसके संसार के रहस्य को समझा है वेदांत निर्धारित पर ब्रह्म मूल सारा वेदांतियों ने ये निर्धारण किया है निश्चय किया है इस जगत का जो मूल है हाँ, मूल अति मूल प्रतिष्ठाया जिसमें ये दिख रहा है वो कोई अन्य नहीं है उसका सार अपना आपा है उसका सार ब्रह्म है आत्म ब्रह्म में ही आत्म ब्रह्म में ही ये प्रपंच दिखाई पड़ रहा है अविद्या काम कर्मा व्यक्त बीज प्रभाव सृष्टि की जो उत्पत्ति स्थिति होती है उसमें तीन बात मूल है वो क्या एक तो हम ठीक समझते नहीं हैं दुख को सुख समझ लेते हैं हाँ, ये समझते हैं ना कि पैसा हमको सुख देता है पैसे से पूछो कि क्यों जी कुछ सुख देने लेने का काम तुम कुछ करते हो कि नहीं देखो ये व्यवहार होता है कि नहीं पैसा हमको बड़ा सुख देता है मकान हमको बड़ा सुख देता है है ना इसको संस्कृत भाषा में ऐसे बोलते हैं जैसे कोई नदी के तट पर वृक्ष गए ना वृक्ष अब लहर आई और गिरने वाला है तो संस्कृत भाषा में बोलते हैं वृक्ष की प्रतिशत वृक्ष अब गिरना चाहता है या गिरने की चाह पेड़ के मन में है, हैं? जैसे पेड़ पर चाह का आरोप झूठ ही किया वैसे पैसा हमको सुख देता है ये सुख के दान हैं? सुख का दाता होने की कल्पना पैसे में झूठी की गई मकान का सुख देता है तो तुम चले जाओगे दूसरा आएगा हाँ, तब भी सुख देगा हाँ। तो देता तो वही नहीं है उसे तो लोग लेते हैं है ना तो अपना सुख उसमें रख के स्त्री में सुख पुत्र में सुख दान में सुख न तो पहली बात तो यह है कि बेवकूफी है अविद्या अविद्या माने बेवकूफी हो हाँ। ना समझी हाँ। ना समझी से हम सुख को ज्ञान को और जीवन को दूसरे में समझते हैं फिर कामना इसमें सुख है आहा क्या चमकती है ना क्या बड़ी बड़ी आंखें हैं है ना क्या लाल लाल है ना होठ हैं क्या क्या मधुर मधुर मुस्कान है क्या कीमती हीरा है हाँ। लाल है सफेद है क्या कीमती क्या कीमती हीरा है हीरा की कोटली बांधे बांधे लोग रेगिस्तान में मर जाते हैं वो हाँ। कभी कभी रेगिस्तान में ऐसे लोग मिलते हैं हाँ, जिनके पास हीरे तो बंधे हों और पानी भी न मर गए हाँ। एक सेठ गए पानी पीने नल पर और अपनी पोटली रख दी ऊपर कबूतर हीरा की पोटली बांधे बांधे लोग रेगिस्तान में मर जाते हैं वो हाँ। कभी कभी रेगिस्तान में ऐसे लोग मिलते हैं हाँ, जिनके पास हीरे तो बंधे हों और पानी भी न मर गए हाँ। एक सेठ गए पानी पीने नल पर और अपनी कोटली रख दी ऊपर चबूतरे पर तो गधा आ गया महाराज दस हजार का नोट ही खा गया <laughs> सृष्टि है ना सृष्टि में गधों की भी कमी तो है नहीं ये सृष्टि में सुख नहीं है बोला तो अविद्या सुखी से हम चाहते हैं कि हमको मजा दूसरे इस यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ मजा नहीं है हम बहुत बच्चे हैं बोला हमको लोगों ने बताया कि हिमालय में बड़ा आनंद है तो जो लोग नहीं जाते हैं ना उनको ऐसा मालूम पड़ता है दूराधि पर्वता रम्या पहाड़ दूर से बड़े सुंदर मालूम पड़ते हैं वहाँ जाके बैठे गंगा जी के किनारे तो 120 वर्ष के महात्मा से देवी गिरी थी वो बोले कि स्वामी जी गंगा किनारे मत बैठो महाराज क्या बात है बोले कभी ठंडी हवा की लहर आवेगी कभी गर्म की आवेगी जुकाम हो जाएगा तो कहोगे कि काशी में जाके हम बीमार पड़ गए गंगा किनारे मत बैठो कमरे में बैठ के भजन करो जब कमरे में बैठा तो महाराज छोटी छोटी भुलगी जो है हीरे वो आंख में घुसे आंख खोलो तो लग जाए रात को लगी पहाड़ में आग तो ऐसा धुआं भरा ऐसा धुआं भर गया नीचे ऊपर तो उड़े नहीं हाँ, ऐसा भर गया कि वहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया है ना अब बादल छा गए शंकर चैतन्य भारती गए थे तो उनको पढ़ने का बड़ा दर्शन था बड़े भारी महात्मा विरक्त कुछ सात आठ दिन में उत्तर काशी से वापस आ गए बोले क्यों बोले कि यहाँ तो बादल कमरे में घुस जाते हैं पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता है अंधेरा हो जाता है <laughs> तो लौट कर सुख साल चले आए दूराधि पर्वतारम्या हो हाँ। ये मन में जो कामना है ना ये जो हम समझते हैं कि ऊपर से देखने में जो सुंदर लगते हैं है ना वो भीतर से भी बड़े मधुर होंगे ये गलत है और जो मालूम पड़ता है कि बाहर से जो वृक्ष हैं वो भीतर से है ना भीतर से भी वृक्ष होंगे तो ये भी गलत है ये काम नहीं अपने को सताती है फिर कामना के बस बरती होके कर्म करते हैं बेवकूफी से दूसरे में सुख ज्ञान और जीवन मानते हैं है? और फिर उसकी कामना करते हैं क्योंकि अच्छा मानेंगे तो चाहेंगे और जब चाहते हैं तब उसके लिए प्रयत्न करते हैं और जब प्रयत्न करते हैं तो उनका संस्कार पड़ता है और संस्कार से फिर वासना निकलती है, है? और इसी का इन्हीं तीनों की जो अव्यक्त दशा है ना बेवकूफी कामना और प्रयत्न इन तीनों की जो अव्यक्त दशा है वही इस अस्वस्थ माने ये संसार रूप जो वृक्ष है इसका बीज है अविद्या काम कर्मा व्यक्त बीज प्रभव अपर ब्रह्म विज्ञान क्रिया शक्ति द्वयात्मक हिरण्य गर्भांकुरा और जो अपर ब्रह्म है माने माया विशिष्ट ब्रह्म है माया में जो आभास रूप ब्रह्म है उसमें जो विज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति है इन दोनों से हिरण गर्भ बनता है हिरण गर्भ प्रजा की सृष्टि भी करता है, है? और किसको किस धारा में भेजकर मनुष्य बनाना और पशु बनाना और पक्षी बनाना ये उसका हिरण गर्भ जो है वो अंकुर है और ये जो प्राणियों के जाति भेद हैं स्त्री भेद पुरुष भेद है ना पशु भेद पक्षी भेद ये भेद उसके कंधे हैं और ये जो इसकी तृष्णा है महाराज मन में जो तृष्णा है ना यही है जलाते पानी से सींचना इससे ये अंकुर बढ़ता है वृक्ष बनता है दर्प माने उछरा है हाँ, बढ़ना ऊंचा रहना बुद्धि इंद्रिय विषय और पत्ते बुद्धि इंद्रिय और विषय ये जो है ये प्रबाल और अंकुर है श्रुति स्मृति न्याय विद्योपदेश ये इसके हरे हरे बड़े बड़े पत्ते हैं और बुद्धि इंद्रिय विषय विशेष प्रबाल जो है ये अंकुर है लाल लाल शुरू शुरू का यज्ञ दान तप आदि अनेक क्रिया से ये पुष्ट होता है सुख दुख वेदना ये अनेक रस जो प्राणियों के उपजीव्य हैं उनसे युक्त अनंत फल हैं सुख दुख वेदना आदि अनेक रस से युक्त प्राणियों के लिए उपजीव्य अनंत इसमें फल हैं और इनकी तृष्णा से हमको ये रस मिले हमको ये फल मिले इससे ये बढ़ता है और एकदम जटाएं इसमें पैदा हो जाती हैं बड़ी दृढ़ इसकी मूल है और सत्य आदि जो सात लोक हैं ऊपर के और नीचे के जो लोक हैं उनमें ब्रह्मा आदि पक्षी अपना घोसला बना करके रहते हैं और प्राणियों को जो दुख होता है शोक हो अर्थ होता है शोक होता है नाचना गाना बजाना मजाक करना ताली बजाना ये सब जो हंसना और किसी को गाली देना रोना हाय हाय छोड़ो छोड़ो छूट गया इस तरह से जो शब्द होते हैं ये जैसे पेड़ में पेड़ में आवाज होती है वैसे महान शब्द इस अश्वत्थ वृक्ष पर हो रहे हैं और वेदांत में जिस ब्रह्म और आत्मा की एकता का वर्णन है उससे जो असंगता होती है असंग शस्त्र है उससे ये काटा जाता है ऐसा ये संसार वृक्ष अस्वस्थ है अस्वस्थ है पीपल का पेड़ है और कामना और कर्म की आंधी से जैसे पीपल का पत्ता हमेशा हिलता रहता है वैसे ये दुनिया हिलती रहती है और स्वर्ग नरक तिरजक प्रेत आदि जो शाखाएं हैं कोई ऊपर कोई नीचे है ना इसकी डालियां फैली रहती हैं और नीचे को लटकी रहती हैं ये अनादि एक संसार वृक्ष चिरकाल से चला आ रहा है और जब तक ब्रह्म ज्ञान की कुल्हाड़ी से इसको काटोगे नहीं तब तक ये कटेगा नहीं इसी संसार वृक्ष के किसी खोडर में किसी घोसला में तो तुम भी फंसे रहोगे इससे छूट नहीं सकते असल में इसकी जड़ को ढूंढो इसकी जड़ इसकी जड़ नीचे नहीं है ऊपर है तो उस जड़ को ढूंढो ऊपर माने कहा ऊपर माने छत के ऊपर नहीं होता ऊपर माने काल जहाँ भागता है है ना उसके पहले देश जहाँ भागता है उसके पहले वस्तु जहाँ भागती है उसके पहले और पहले पहले पहले जो भागता है उसका प्रकाशक और केवल प्रकाशक ही नहीं संपूर्ण देश काल वस्तु का अधिष्ठान ये जो ब्रह्म है यही इसका मूल सार है आत्म ब्रह्म है इसका अनुसंधान किए बिना यदि कोई चाहे कि इस अस्वस्थ वृक्ष से हम छूट जाएंगे तो नहीं छूट सकता यही जो इसकी मूल है तो सदैव शुक्रम तद ब्रह्म मृतम उच्यते यही शुक्र है यही ब्रह्म है हाँ, ये शुक्र सब उर्दू में भी बोलते हैं लोग क्या है शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया बोलते हैं ना शुक्र है हाँ, खुदा का शुक्र है तो ये शुक्र जो है वो धन्यवाद के अर्थ में बोलते हैं शुक्रिया धन्यवाद धन्य धन्य शुक्र माने शुक्ल है शुक्र माने शुद्ध है शुक्र माने जगमगाता हुआ हीरा है है ना आकाश में होता है ना हीरा शुक्र हीरा हाँ। ये माणिक्य है माणिक्य नारायण तो आओ अब इसका विचार तो कल करेंगे